अनोशो टॉक धर्म साधना के सूत्र नंबर टू नास्तिक के मन में भी जोश पैदा करता तो उसका हम भी सिद्ध कर देंगे कि नहीं और एक नास्तिक को आस्तिक अभी तक सिद्ध नहीं करवा पाया कि है और न करवा पाएगा उसका कारण उसका कारण है कि है ईश्वर के संबंध में इरेलीवेंट है ईश्वर के संबंध में है नहीं कहा जा सकता असंगत है क्यों क्योंकि है ईश्वर का गुण नहीं है है और ईश्वर का एक ही मतलब होता है वे पर्यायवाची ऐसा कहना कि गॉड इज ईश्वर है पुनरुक्ति है क्योंकि जो है उसी का नाम ईश्वर है ईश्वर है इसमें दोनों एक ही बातें हैं है का मतलब भी ईश्वर होता है और ईश्वर का मतलब भी है होता है इसलिए ईश्वर है कभी भी नहीं कहा जा सकता जो है वही ईश्वर है तो ईश्वर है कभी भी नहीं कहा जा सकता ये रिपीटिशन है ये पुनरुक्ति तो मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं आप लिख के दे दें ईश्वर है या नहीं अगर वो ज्यादा जिद ही करें तो है तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता लेकिन उनकी जिद तोड़ने को जरूर कहा जा सकता है कि नहीं उसके कारण है मैंने सुना है एक दिन बुद्ध एक गांव में प्रविष्ट हुए और गांव के द्वार पर ही एक आदमी ने पूछा ईश्वर है मैं आस्तिक हूं आप क्या कहते हैं बुद्ध ने कहा बिल्कुल नहीं कौन ने कहा तुमसे पागल हो गए कैसा ईश्वर देखा है कभी वो आदमी बहुत घबरा गया बुद्ध आगे बढ़े दोपहर को एक दूसरा आदमी आया मिलने और उसने कहा मैं नास्तिक हूं और मैं मानता हूं ईश्वर नहीं आपका क्या ख्याल है वो ढंग का ईश्वर नहीं है पागल हो गए वो ईश्वर के सिवा तो कुछ है ही नहीं वही है किसने तुम्हें कहा ईश्वर नहीं है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जो भी है वही है लेकिन बुद्ध के साथ एक भिक्षु था वो मुश्किल में पड़ गया उसने दोनों उत्तर सुन लिए उसने सुबह भी सुन लिया था कि नहीं है दोपहर को सुना कि है वो बहुत घबराया उसने कही तो मुसीबत हो गई ये बुद्ध कैसा आदमी सांझ उसने कहा जब लोग छट जाएंगे तब पूछ लूंगा लेकिन सांझ तक मुश्किल कम न हुई और बढ़ गई सांझ को एक तीसरा आदमी आया और उसने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं आपका क्या ख्याल है बुद्ध चुप रह गए उन्होंने कहा मेरा कोई ख्याल ही नहीं रात जब सोने लगे तो उस भिक्षु ने कहा सुनिए अभी सो मत जाइए मैं सो न पाऊंगा रात भर मुझे मुश्किल में डाल दिया सुबह कहते हैं नहीं है दोपहर कहते हैं है सांझ कहते हैं कुछ भी नहीं कहूंगा चुप रह जाता हूं आप मेरे प्राण लेना चाहते हो मैंने तीनों उत्तर सुन लिए सही क्या है बुद्ध ने कहा तुझे तो एक भी उत्तर न दिया गया था तूने सुना क्यों जिनको उत्तर दिए गए थे उनके लिए थे तू क्यों बीच में आया तूने क्यों सुना उसने कहा लेकिन मेरे पास कान है मैं मौजूद था मुझे ही पड़ गया अब मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूं सही क्या है बुद्ध ने कहा सही सिर्फ एक बात है सुबह जो आदमी आया था वास्तविकता से भरा हुआ था विश्वास से भरा हुआ था कि ईश्वर है पता नहीं था उसे अन्य था मुझसे पूछता नहीं पूछता सिर्फ वही है जिसको पता नहीं वो मेरे पास जो आते हैं पूछने की ईश्वर है या नहीं उनको बेचारों को पता नहीं दूसरों से पूछते फिर रहे सर्टिफिकेट गवाही लेते फिर रहे वो तो खुद को कुछ पता नहीं पता होता तो मैं उनके पास पूछने जाता वो मेरे पास क्यों पूछने आए बुद्ध ने कहा वो जो आदमी सुबह आया था उसे पता बिल्कुल नहीं है वो सिर्फ मेरी गवाही मांग रहा था उसका अंधा विश्वास उसका ख्याल है मान लिया है कि ईश्वर है वो चाहता था बुद्ध भी कह दें कि है तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाए उसका अंधापन और गहरा हो जाए तो मैं उसका अंधापन गहरा नहीं कर सकता था मैंने कहा नहीं क्योंकि मैं आदमी का अंधापन तोड़ना चाहता हूं दोपहर जो आदमी आया था उसने बिना जाने मान लिया था कि ईश्वर नहीं है वो मेरी गवाही चाहता था कि बुद्धि भी कह दे नहीं है तो पक्का हो जाए अपनी जड़ता में मुझे उसके लिए जड़ता तोड़नी थी तो मैंने कहा है पांच जो आदमी आया था अभी उसकी कोई भी जड़ता नहीं थी उसे पता ही नहीं था कि है या नहीं तो मैंने उससे कहा मैं कुछ न कहूंगा चुप रह जाऊंगा और तुझसे भी कहता हूं बिल्कुल चुप रह जा तो तू जान लेगा है या नहीं मेरे साथ भी मित्रों को तकलीफ पड़ती है वो मेरी बात नहीं समझ पाते उनको कठिनाई जो हो जाती है वो ये कि वो गवाहियां ढूंढ रहे हैं अपने अंधेरे विश्वासों के लिए अपनी अंधी धारणाओं की गवाहियां ढूंढ रहे हैं वो चाहते हैं मैं भी गवाही दे दू उनकी उनके अहंकार को मैं भी पुष्टि दे दू मैं कह दू कि बिल्कुल ठीक आप मानते हो मैं आखिरी आदमी हूं जमीन पर जो किसी से कहूंगा कि आप ठीक मानते हो असल में मानना कभी ठीक होता ही नहीं मानना ही गलत होता है इसे समझ लें ठीक मानना और गलत मानना ऐसा नहीं होता मानना ही गलत होता है जानना ठीक होता है मानना गलत होता है मानने का मतलब ही है कि अंधे हैं हम मान लिया है आंख वाला सूरज को मानता नहीं जानता है अंधा आदमी मानता है कि होगा अंधा आदमी जानता नहीं हम परमात्मा की तरफ अंधों की तरह व्यवहार कर रहे हैं आंख वाले की तरह नहीं माने हुए बैठे कि है कोई माने हुए बैठा है कि नहीं है इन दोनों में फर्क नहीं है इनके अंधेपन में फर्क है इनके मानने में कोई फर्क नहीं है आस्तिक भी अंधे हैं नास्तिक भी अंधा है धार्मिक आदमी ना आस्तिक होता ना नास्तिक होता धार्मिक आदमी अंधा नहीं होता धार्मिक आदमी आंख खोल के देखता है और जब देखता है तो वो जो पाता है वो इतना विराट है कि न हा में समाता ना ना में समाता वो इतना विराट है कि ना आस्तिक कह पाता ना नास्तिक निषेध कर पाता वो इतना विराट है कि सारे दुनिया के धर्म चिल्लाते रहते हैं लेकिन उसका छोर भी पता नहीं चल पाता वो इतना विराट है कि आदमी सब तरफ से खोजता है खोजते खोजते खुद खो जाता है उसको पूरा बांध नहीं पाता जो जानता है इसलिए वो हाँ और ना से चुप्पी साथ जाएगा मुझसे कोई पूछता है है या नहीं मुझसे मत पूछे जीवन में आंख खोल के देखे होगा तो जरूर मिल जाएगा नहीं होगा तो ये पता चल जाएगा कि नहीं लेकिन हम अजीब लोग हम छपे अक्षर के बड़े अंधे भक्त हम जिंदगी को ना देखेंगे हम किताब को देखेंगे और मान लेंगे रामकृष्ण कहते थे कि एक आदमी था उनके पड़ोस में रहता उसके पड़ोस में किसी के मकान में आग लग गई वो सुबह सुबह रामकृष्ण से मिलने आया था तो रामकृष्ण ने पूछा कि मैंने सुना है कि रात तुम्हारे पड़ोस में आग लग गई उसने कहा पता नहीं मैंने सुबह अखबार में देखा अखबार में तो कुछ खबर नहीं तो रामकृष्ण कहते थे मजेदार आदमी ने पड़ोस में आग लगी उसने सुबह अखबार में देखा कि लगी कि नहीं पड़ोस में न देख सका जाके आग अखबार में देखा उसने अखबार में खबर छपती तो पता चलता कि है या नहीं छपे अक्षर के लिए हम बिल्कुल पागल हैं परमात्मा चारों तरफ मौजूद है लेकिन हमें छपे अक्षर में चाहिए किताब में कि है या नहीं किसी की किताब में लिखा है नहीं है किसी की किताब में लिखा है है अब बड़ा मुश्किल है किताबें आदमियों को लड़ा रही जड़ किताबें जिंदा आदमी को लड़ा रही मरी मराई किताबें जिंदा आदमी को कटवा रही हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है चाराने में बाजार में बिकती हैं उनके पीछे लाखों आदमी जिंदा और मर, मर हैं आश्चर्यजनक है ये कर रहे हैं आप के बाद पूरी पूरी बात सुने उसकी गलत दिखाई पड़ी लेकिन जब तक मैं उस तारे के पास पहुंचा वो और आगे निकल चुका कभी किसी दूर ग्रह पर उसकी चमक का अनुभव हुआ लेकिन जब तक मैंने वो यात्रा की उसके कदम कहीं और जा चुके ऐसा जन्मों जन्मों तक उसे खोजता रहा वो नहीं मिला एक दिन लेकिन अनायास में उस जगह पहुंच गया जहां उसका भवन था निवास द्वार को भी लिखा था परमात्मा यही रहते थे खुशी से भर गया मन कि जिसे खोजता था जन्मों से वो मिल गया अब लेकिन जैसे ही उसकी सीढ़ी पर तैर रखा कि ख्याल आया सुनो है सदा से कि उससे मिलना हो तो मिटना पड़ता और तब भय भी समा गया मन में चढ़ू सीढ़ी न चढ़ू सीढ़ी क्योंकि अगर वो सामने आ गया तो मिट जाऊंगा अपने को या उसे पालू फिर भी हिम्मत की और सीढ़ी में चढ़कर उसके द्वार तक पहुंच गया उसके द्वार की सांकल हाथ में ले ली फिर मन डरने लगा बजाऊं या न बजाऊं अगर उसने द्वार खोल ही दिया तो फिर क्या होगा मैं तो मिट जाऊंगा और सब प्राण इतने घबरा गए मिटने के ख्याल से कि सांकल धीरे से छोड़ दी कि कहीं भूल से आवाज न हो जाए कहीं वो द्वार न खोल दे पैर की जूती और हाथ में ले ली कि कहीं सीढ़ियों पर आवाज न हो जाए कहीं वो द्वार न खोल दे और फिर जो उस दिन से भागा हूं तो पीछे लौट कर नहीं देखा है अब मुझे भली भांति पता है रविन्द्रनाथ ने उस गीत में कहा अब भली भांति पता है कि उसका मकान कहां है फिर भी उसे खोजता हूं सिर्फ उसके मकान को बचा के निकल जाता हूँ और सब जगह सोचता देता हूँ और पता है भली भांति का उसका मकान कहाँ है लेकिन उसके मकान के पास जाके डरता हूँ क्योंकि लिखने की हिम्मत अक्सर नहीं जुटा पाया हूँ भगवान को तो पाना चाहता हूँ लेकिन खुद लिखना नहीं चाहता हूँ इन दोनों में कोई तालमेल नहीं होगा ध्यान में जैसे ही प्रवेश करेंगे उसके द्वार पर जैसे ही खड़े होंगे आपके सामने भी वही सवाल खड़ा हो जाए ये तो अपने मिटने का वक्त आ गया और तब भय से पीछे मत लौटाइएगा अन्य जन्म जन्म को बचपन की बच्चियत का मतलब क्या है हमने तो किसी अर्थी के हाथ को भी बाहर लटके नहीं देखे भिखारी भी मरते हैं तो हाथ भीतर होते हैं घाट मरे तो हाथ बाहर रहे सिकंदर को ये क्या पागल बन पूछा उसके सेनापतियों ने कहा हमने भी यही कहा था उसने कहा कि नहीं मेरे हाथ बाहर ही लटके रहने देने ताकि लोग ठीक से देख लें कि मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं जिंदगी भर पागल रहा और हाथ फिर भी खाली के खाली है कुछ मिला भी नहीं दौड़ा भी बहुत लड़ा भी बहुत परेशान भी बहुत हाथ खाली के खाली जा रहे हैं ये मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना एक एक आदमी देख ले कि सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है दो तरह के पागलपन है जमीन पर एक जो परमात्मा की दिशा में जाता है जहां हम अपने को खो के सब पा लेते हैं और एक जो अपने अहंकार की दिशा में जाता है जहां हमें कुछ भी मिल जाए तो कुछ मिलता नहीं अंततः हम खाली के खाली रह जाते हैं तो अगर अहंकार के लिए ही पागल होना हो तो, तो हम सब पागल हैं हम सब अहंकार के लिए पागल हैं एक छोटे से मैं के लिए हम जिंदगी भर लगा देते हैं कि ये मैं कैसे मजबूत हो ये मैं कैसे बड़ा हो ये मैं कैसे लोगों को दिखाई पड़े सुबह लेकिन वो पागल को तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हम सभी उसमें सहमत और आती है वो नॉर्मल मेडनेस वो सामान्य पागलपन तो है जिसमें हम सब भागीदार हैं और अगर एक गांव में सारे लोग पागल हो जाए तो फिर उस गांव में पता नहीं चलेगा कि कोई पागल हो गया बल्कि उस गांव में खतरा है कि किसी आदमी का अगर दिमाग ठीक हो जाए तो सारा गांव विचार करने लगेगा कि मालूम होता है ये आदमी पागल तो नहीं होगा समझ में मैंने ऐसा कि किसी गांव में एक जादूगर आया और उसने गांव के कुएं में कोई मंत्र पढ़ को फेंक दिया और कहा कि जो भी इसका पानी पिएगा पागल हो जाए शाम देखते होते तक सारा गांव पागल हो गया एक ही कुआ था गांव में एक कुआ और था लेकिन वो सम्राट के महल में सम्राट बच गया उसके वजीर बच गए उसकी रानियां बच गई लेकिन पूरा गांव पागल हो गया सम्राट बड़ा प्रसन्न था और पांच अपने अपने वजीरों से तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास अलग हुआ अन्यथा हम भी पागल हो जाते सारा गांव पागल हो गया लेकिन वजीरों ने कहा तो सम्राट आपको पता नहीं इससे बड़ा खतरा पैदा हो गया गांव में एक अफवाह उड़ रही है कि मालूम होता है सम्राट का दिमाग खराब हो गया सम्राट ने कहा क्या करते हमने तो कुएं का पानी पिया ही नहीं वजीरों ने कहा यही मुसीबत हो गई क्योंकि पूरे गांव ने तो कुएं का पानी पी लिया और वो पूरा गांव अपने को ठीक समझ तो रहा है आपको पागल समझ तो रहा है और पागल का एक लक्षण होता है कि वो सदा अपने को ठीक समझता तो और दूसरे को पागल समझता सांझ होते होते गांव के लोगों ने महल को घेर लिया और उन्होंने कहा ऐसे संघात को हम पसंद न करेंगे सिंहासन छोड़ो हम दूसरे सम्राट को दिखाएंगे जिसका दिमाग ठीक हो अब सम्राट मुश्किल में पड़ा उसके पहरेदार भी पागल हो गए उसके सिपाही भी पागल हो गए उसके सेनापति भी पागल हो गए कौन उसे बचाए सम्राट उसने वजीरों से कहा क्या रास्ता वजीरों ने कहा हम थोड़ी देर इन पागलों को रोकने की कोशिश करते आप पीछे के दरवाजे से भागे जाए और उस कुएं का पानी पिए हैं जिसका पानी उन्होंने पिया अब और बचने का कोई रास्ता नहीं सम्राट गया भागा हुआ पीछे के रास्ते वो कुएं का पानी पीकर रहता गया तब तो पीछे के रास्ते से गया था आया तो, तो सामने के रास्ते से आया वो भी चला आ रहा था चिल्लाता हुआ बड़बड़ाता नाक था गांव के लोगों ने कहा आश्चर्य मालूम होता है सम्राट का दिमाग ठीक हो गया उस रात उस गांव में जलसा मनाया गया और सारे लोगों ने भगवान को धन्यवाद दिया कि तेरी बड़ी कृपा है कि हमारे राजा का दिमाग ठीक कर दिया अगर पूरा गांव पागल हो तो बड़ी निश्चित हो जाए इस जमीन पर ऐसा ही हुआ है हम सब अहंकार के लिए पागल हैं इसलिए जब कोई परमात्मा की दिशा में पागल होता है तो हमें लगता है कि ये पागल हो गया सच्चाई उल्टी है हम सब पागल हैं परमात्मा की दिशा से जाने वाले लोग ही बस पागल नहीं है लेकिन हमें ये पागल दिखाई पड़ने शुरू हो गए हमसे अनजान अपरिचित लोक में जो जाता है हमसे भिन्न हमसे अज्ञात रास्तों पर जो कदम रखता है वो हमें पागल मालूम होने लगे इसलिए बुद्ध भी पागल मालूम होते हैं महावीर भी नानक भी कबीर भी क्राइस्ट भी सब पागल मालूम होते हैं उस जमाने के लोगों को लगता है कि आदमी पागल हो गए स्वाभाविक सदा से ये हुआ दुर्भाग्य लेकिन यही हुआ है कि जो सच में स्वस्थ हो जाते हैं लेकिन बीमारों के बीच अस्वस्थ मालूम पड़ने लगते उसकी हिम्मत जुटाने की जरूरत है उसके रास्ते पर पागल होने से डरने की जरूरत नहीं किसी एक बहन ने मुझे आके कहा कि उसे लगा कि वो कहीं मर न जाए समाप्त न हो जाए सिंकिंग मालूम होने लगी हृदय डूबने लगा श्वास खो न जाए बचाएंगे भी कब तक श्वास खो वो खो ही जाएगी और कब तक बचेंगे डूबने चारों तरफ रोज लोगों को डूबते देखते लेकिन ख्याल नहीं आता कि हम डूब जाएंगे आदमी के सबसे ज्यादा अद्भुत बातों में एक ये है कि रोज चारों तरफ कोई मरता है लेकिन ये ख्याल नहीं आता कि मैं मर जाऊंगा उसी क्यू में खड़े जिस क्यू का नंबर एक का आदमी मर गया नंबर दो मरने की तैयारी कर रहा है नंबर तीन हम खड़े हैं लेकिन हम कह रहे हैं बेचारा मर गया लेकिन तो हम मरने के बाहर और हमें पता नहीं कि उसके मरने से क्यों थोड़ा आगे सरक गया एक जगह खाली हो गई हम और थोड़े आगे पहुंच गए मौत के करीब जब भी आप मरकर किसी को पहुंचाते हैं तो आपका क्यू में नंबर आगे चले जाते आप थोड़े आगे सरक जाते लेकिन वो ख्याल नहीं आता मरना है मिटना पड़ेगा इस तरह दो तरह के मिटने एक तो वो मिटना है जो मजबूरी में हम मरते हैं सड़कते और चिल्लाते हुए उस मिटने का मजा भी चला जाता है एक और मिटना भी कि हम अपनी राजी हम अपनी खुशी से उसमें भी चले जाते हैं जीसस का वचन है जो कीमती है जीसस ने कहा जो अपने को बचाएगा वो मिट जाए और धन है वे जो अपने को मिटा देते हैं क्योंकि फिर उनका मिटना असंभव फिर वे बचा लिए जाते हैं उल्टे हैं दुनिया के रास्ते परमात्मा के रास्ते बिल्कुल उल्टे वहां वही बचता है जो खोने को राजी यहां वही बचता है जो खोने से अपने को बचाता रहता है लेकिन हमारा बचा हुआ भी खो जाता है और उसमें खोया हुआ ही बच जाता है खोने से मत डरना मिटने से मत डरना अन्यथा उसकी सीढ़ियों से वापस लौटना हो जाए और बहुत से मित्रों ने आके कहा कि बहुत कुछ उनके भीतर होना शुरू हुआ लेकिन उन्हें भय समाया कि कोई देख लेगा तो क्या करेगा अगर हम नाचने लगेंगे तो रोने लगेंगे हंसने लगेंगे आंसू बहने लगेंगे तो लोग देखेंगे कि भले अच्छे आदमी को क्या हो गया ये भी समझ लेना जरूरी है कि हम सदा दूसरों की आंखों में देखकर ही जीते रहेंगे या कभी अपने भीतर देखकर भी कब तक हम दूसरों के ओपिनियन से जिएंगे दूसरा क्या कह रहा है ये दूसरा कौन है और एक दूसरे से प्रयोजन क्या है एक दूसरे के आप गुलाम अगर आप नाच रहे हो सारा गांव भी कह रहा है कि पागल है तो ये उसकी मौत है उसे कहने से लेकिन आप उनके दूसरों की विचारों के गुलाम आप नहीं सोच सकते कि आपके भीतर क्या हो रहा है नहीं आप डर जाएंगे आप कहेंगे लोग क्या करेंगे करो ये लोग क्या कहेंगे ये परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है मीरा दीवानी हुई उसके रास्ते पर लोगों ने क्या कहा लोगों ने कहा बिगड़ गई मीरा को कहना पड़ा कि लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई लेकिन कहने को लोगों को अगर मीरा लोगों की बात मान के लौट आए तो लोग बड़े खुश होंगे लेकिन मीरा डूब गई मीरा गई लोग क्या कहते हैं उनका ओपिनियन क्या है ये परमात्मा के रास्ते पर कभी बीच में मत आने देना अन्यथा एक कदम बढ़ाना मुश्किल एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे जिस दिन महावीर नदी खड़े हो गए उस दिन उस गांव के लोगों ने उनको पत्थर मार के बाहर कर दिया क्योंकि लोगों ने कहा नग्न हो गए पागल हो गए और महावीर इतने निर्दोष हो गए थे कि उन्हें याद भी न रहा कि वस्त्र पहनने जरूरी उनकी समझ में भी न आया कि लोग क्या कह रहे स्वाभाविक कभी से इतना सरल और निर्दोष हो सकता है कि वस्तुओं की भी याद न रह जाए लेकिन लोगों को तो रहेगी क्योंकि लोगों को अपना नंगापन नहीं भूलता तो दूसरे के वक्त कैसे भूलेंगे हम सब कपड़ों के भीतर नंगे होते और हमारा नंगापन में इतना घबरा रहता है कि अगर दूसरा आदमी नंगा दिख जाए तो हम उसे भूल कैसे सकते हैं चाहे वो भूल जाए हम नहीं भूल सकते हम तो कहेंगे कि कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि अगर उसके साथ गड़बड़ नहीं हुई तो एक दूसरा सवाल उठेगा जैसे कि हमारे साथ गड़बड़ हो गई उस सवाल से बचने के लिए हम उसी पर गड़बड़ ठोक देते हैं जिन मित्रों ने मुझे आके कहा कि लोग क्या करेंगे उन्होंने अपना रास्ता रोक लिया है कब तक लोगों के लिए बैठे सोचते रहेंगे लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे और लोगों के लिए रखने वाला बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है मैंने सुना है पूर्णिमा की रात शंकर और पार्वती पूरा चांद है घूमने निकले साथ में उनका नंदी भी है वे दोनों के साथ चल रहे और नंदी चल रहा है कुछ लोग मिले उन्होंने कहा देखते हो पागलों को नंदी साथ है और पैदल चल रहे हैं दोनों शंकर ने कहा कि लोग कुछ दोनों बातें कर रहे हैं हम दोनों बैठ गए वे दोनों नंदी पर बैठ गए रास्ते में दूसरे लोग मिले उन्होंने कहा देखते हैं बेचारा गरीब नंदी और दो दो उससे सवार शंकर ने कहा ये ठीक नहीं मालूम पड़ता लोग कह रहे हैं कि दो दो सवार हैं एक ही नंदी पर पार्वती से कहा कि तू उतर जा पार्वती उतर गई अकेले शंकर सवार रहे लोग रास्ते में मिले उनका देखते हुए नाकवत को औरत को नीचे चला रहा है खुद मंदिर पर बैठा हुआ पार्वती शंकर ने कहा लोग क्या कह रहे हैं मैं नीचे उतर जाता हूं तू मंदिर के ऊपर बैठ पार्वती ऊपर बैठ गई शंकर नीचे चले रास्ते में लोग मिले उनका देखते औरत को पति नीचे चल रहा है खुद मंदिर पर बैठी हुई शंकर ने तो बड़ी मुश्किल हो गई तू भी नीचे उतरा लेकिन अब हम क्या करें उन्होंने कहा एक ही रास्ता है हम दोनों मंदिर को उठा लें तो अब तो कोई रास्ता नहीं बचा लोगों ने हर चीज में कुछ ना कुछ कहा अब हम मंदिर को ऊपर उठा लें अब वो दोनों मंदिर को उठा के चल रहे हैं लोग देखते हैं पानों को नंदी को बैठना चाहिए था तो उल्टा नंदी को लेकर चलते शंकर ने कहा कि लोगों हमें जीने दोगे कि न जीने दो हम कुछ भी करेंगे तो तुम मिल जाते लोगों से कोई चेहरे छोड़ेंगे लोग चारों तरफ मौजूद हैं वे हर बात में कुछ कहेंगे ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसमें वे कुछ न करें अगर वे कुछ न करें तो बहुत बुद्धिमान है लेकिन अपने बुद्धिमान लोग कहा वे कुछ न कुछ कहेंगे और अगर उनकी हर बात के लिए आप रुके रहे तो रुक जाएंगे सदा के लिए लेकिन ध्यान रहे आप रुक जाएंगे मौत न रुकेगी उनकी बातें सुनकर मौत न रुकेगी वो ये न कहेगी कि लोग क्या कहेंगे हम आपको ले जाए कि न ले जाए वो ले जाए लोगों की बिल्कुल फिक्र न करें और आप लोगों की फिक्र करते रहेंगे और मौत लोगों की बिल्कुल फिक्र न करेगी आपका सौदा महंगा हो जाए तो जब मौत लोगों की फिक्र नहीं करती तो जिंदगी भी क्यों फिक्र करे जिंदगी को भी फिक्र नहीं करनी चाहिए जब मौत तक फिक्र नहीं करती तो जिंदगी की तो करनी ही नहीं लेकिन हम डरे हुए थे हमें चारों तरफ लोगों के चेहरे ख्याल में रहते हम उन्हीं को देख के कपड़े पहनते उन्हीं को देख के हंसते उन्हीं को देख के रास्तों पर चलते हमने एक मुखौटा बनाया हुआ है हम एक एक्टिंग कर रहे हैं जो चौबीस घंटे लोगों की मांग पूरी कर रही है स्टेज पर जो एक्टर काम करते हैं भी लोगों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं हम भी लोगों की मांग पूरी कर रहे हैं चारों तरफ लोग हैं वो कह रहे हैं ऐसे कपड़े पहनो ऐसे उठो ऐसे बैठो ऐसे जियो सिर्फ एक बात वो छोड़ देते हैं ये नहीं बताते कि कैसे मरो क्योंकि उसको उनका कोई बस नहीं जीने को वो सब तरफ से घेर लेते हैं तो मैं ध्यान करने वाले मित्रों को कहूंगा लोगों की फिक्र मत करना एक और अंतिम कृत सर हम ध्यान के लिए बैठेंगे एक मित्र ने पूछा है कि आपने जो ध्यान के लिए कहा इससे चरित्र में और जीवन में कोई फर्क होगा कि नहीं होगा जरूर होगा और इसके अतिरिक्त चरित्र और जीवन में फर्क और किसी रास्ते से होते ही नहीं असल में ध्यान बदल देता है भीतर की चेतना को और जब भीतर की चेतना बदलती है तो बाहर का आचरण अपने आप बदल जाता है रुक नहीं सकता बिना बदले जब आप बदल जाएंगे तो आपका आचरण थोड़ा ना कैसे रह सकता है बदलेगा आपका पुराना आचरण आपकी चेतना से जुड़ा हुआ और जब चेतना ही बदल गई लेकर तो आचरण वही नहीं रह सकता अब एक आदमी सिगरेट पी रहा है सारी दुनिया उसको समझाए कि मत पियो मैं मानता हूं वो रुकेगा नहीं और अगर रुक जाएगा तो सिगरेट की जगह और कुछ इसी तरह का बेकार काम शुरू करेगा अगर धुआं नहीं निकालेगा तो पान चबाएगा अगर पान नहीं चबाएगा तो रात चबाएगा रात नहीं चबाएगा तो लोगों से बैठ के बकवास करें लेकिन वो और चलाने की जो बेकाम आदत से वो जारी रही वो बच नहीं सकता उससे क्योंकि सिगरेट पीने वाला ये कह रहा है कि वो खाली नहीं बैठ सकता खाली बैठने से बेचैनी होती सिगरेट खालीपन का सहारा वो अन आकुपाइट के लिए आकुपेशन जब आप बिल्कुल बेकार हो कोई काम नहीं तब आप सिगरेट से काम खोज रहे और कोई नहीं कह सकता कि सिगरेट पीने वाला बुरा ही कर रहा है क्योंकि अगर सब सिगरेट पीने वालों से सिगरेट छीन ली जाए तो वो अन ऑक्यूपाइड लोग और भी खतरनाक ऑक्यूपेशन खोज सकते हैं हिटलर सिगरेट नहीं पीता और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वो सिगरेट पीता होता तो शायद दूसरा महायुद्ध न होता हिटलर सिगरेट भी नहीं पीता मांस भी नहीं खाता अंडा भी नहीं खाता हिटलर बड़ा साधु पुरुष पांच बजे सुबह उठता कोई बुरी चीज नहीं खाता चाय काफी भी नहीं पीता शराब तो बहुत दूर की बात मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो उसने अपने को इतना अच्छा बना लिया था जबकि भीतर सब बुरा था तो फिर बुरे को बहने के लिए नए रास्ते खोजने पड़ते नहीं ऐसे सिगरेट ऊपर से छीनी तो खतरा है सिगरेट जानी चाहिए भीतर से और अगर भीतर मन शांत हो जाए तो आपको अकुपाइड होने में खाली होने में इतना आनंद आने लगेगा कि सिगरेट के धुएं से आप उसको खराब नहीं करेंगे ये मेरे लिए सवाल तो सदा भीतर से है एक आदमी मांस खाता है मैं नहीं कहता मत खाओ क्योंकि जो मांस खा रहा है वो खतरनाक आदमी है अगर वो मांस नहीं खाएगा तो किसी आदमी की गर्दन दबाएगा अगर सीधे नहीं दबाएगा ब्याज लेके दबाएगा अगर ब्याज लेके तरकीब न मिलेगी तो और कोई जाल खोजेगा जिसमें वो दबाए किसी को उससे तो अच्छा है वो मांस ही खा ले जितने लोग गैर मांसाहारी हैं जन्म से वो खतरनाक आदमी हो जाते हैं अच्छे आदमी नहीं रह जाते उसका कारण है कि उनको दबाना पड़ता है दूसरी तरफ नहीं मैं कहता हूं भीतर मन शांत हो आनंदित हो तो किसी को दुख देने की वृत्ति विलीन हो जाए तब आप मांस नहीं खाते वो छोड़ना नहीं पड़ेगा छूटेगा ध्यान का मूल सूत्र है कि आचरण बदलना नहीं पड़ता बदल जाता है आचरण बड़ी साधारण चीज असली चीज अंतर और जब भीतर आदमी बदलता है तो बाहर आचरण बदलता है आश्रम बदलेगा उन मित्र ने पूछा है कि कहीं ये थोड़ी देर के लिए एक विश्राम थोड़ी देर के लिए एक मनोरंजन होकर तो न रह जाए नहीं इसे थोड़ी देर होने दें या आपकी पूरी जिंदगी को पकड़ ले ये ध्यान ऐसा मेहमान है कि एक दफे भीतर घुस जाए फिर आप इसको बाहर न कर पाएंगे एक दफे भीतर पर घुस जाए फिर इसे आप बाहर कर ही ना पाएंगे क्योंकि अपने साथ इतना आनंद लाता है आनंद को कौन बाहर कर सकता है अपने साथ इतनी शांति लाता है कि शांति को कौन बाहर कर सकता है एक बार प्रयोग करके इसे भीतर आ जाने से फिर ये कभी बाहर न जा सकेगा और कोई अगर कहेगा भी कि इसे बाहर हम कर देते हैं और आप करोड़ रुपए में लो तो भी आप करोड़ रुपए लेके इसे देने को राजी न हो सुना नहीं कि महावीर के पास उस जमाने का एक सम्राट श्रेणी नहीं आया और उस श्रेणी ने महावीर से कहा कि मैंने सब पा लिया है अब ये मैं ध्यान की बड़ी चर्चा सुनता हूं ये ध्यान क्या बड़ा कितने में मिल सकता है मैं खरीदने को कह श्रेणी था सम्राट था चीजें खरीदने का आदि था महावीर ने कहा खरीदने से नहीं मिलेगा क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी बेचने को राजी नहीं होगा वो सम्राट ने कहा जीत लेंगे पौधे लगा देंगे ये है क्या बड़ा ध्यान महावीर ने कहा पौधे आदमी को काट डालेंगे ध्यान को नहीं काट पाएंगे फिर उसने कहा मुझे कोई रास्ता बताओ मैंने सब पा लिया अब ये ध्यान कर रह गया ये खटकता है तो अपने पास ध्यान नहीं है, है क्या ध्यान महावीर ने कहा कि तुम धन पाने के आदि हो जमीन पाने के आदि हो उसी तरह ध्यान को पाने चले हो उसी ढंग से तुम नहीं पा सकोगे तुम्हारे गांव में गरीब आदमी उसके पास चले जाओ फिर महावीर ने नाम बता दिया और कहा कि उसे ध्यान मिल गया उससे तुम खरीद लो उस को उसके दरवाजे को गया रथ से उतरा उसने देखा बहुत गरीब आदमी का झोपड़ा है उसने खरीद लेंगे पूरे आदमी को खरीद लेंगे ध्यान की क्या बात उसने बड़े हीरे सवारात जाकर उसके दरवाजे पे डलवा दिए और कहा कि सामान और चाहिए हो तो और दे देंगे जो तेरी मांग हो ले ले ध्यान ले ले उस आदमी ने तो बड़ी मुश्किल में डालते गया ध्यान को तो आप अपना सारा साम्राज्य दे दे तो भी मैं न दे सकूंगा एक तो इसलिए न दे सकूंगा कि उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं और इसलिए भी ना दे सकूंगा कि वो मेरी आत्मा की आत्मा है उसे निकाल के दे भी कैसे सकता हूं अगर कोई देना भी चाहे उसे दे भी नहीं सकता ध्यान तो सब बदल जाता है सुख का व्यक्तित्व हो लेकिन साहस की जरूरत अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे जो मित्र देखने के लिए आ गए हो वो बीच से हट जाएंगे और किनारे पर खड़े हो जाएंगे देखने में कोई ऐतराज नहीं है देखते देखते भी उन्हें कुछ हो सकता है लेकिन इतना ख्याल रखेंगे कि जो लोग भी किनारे पर खड़े रहे उनके कारण किसी को बाधा न पड़े इतनी सज्जनता बरतेंगे तो बड़ी कृपा होगी कि उनके कारण किसी को बाधा न पड़े वो तो चाप खड़े देख सकते हैं लेकिन बीच में कोई ऐसा आदमी न खड़ा रहे जो ध्यान नहीं कर रहा क्योंकि उसके कारण यहाँ जो सारी तरंगें पैदा होती हैं ध्यान करने वालों की उसको बाधा पड़ती है जिसको ध्यान नहीं करना वो चुपचाप तो किनारे पर खड़ा हो जाए और जिन मित्रों को ध्यान करना है वो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए और जगह बना लें और बातचीत बिल्कुल न करें बातचीत न करें अपनी अपनी जगह चुपचाप खड़े हो जाए खड़े होंगे जो ध्यान करने के लिए खड़े हो रहे हैं ताकि कोई किसी को छुए नहीं और अपने चारों तक थोड़ी जगह बना लें क्योंकि आप हिलने डूलने लगे नाचने लगे तो किसी को धक्का न लगे और जो लोग चुपचाप देखना हो वो थोड़े दूर होकर खड़े हो ताकि यहां जगह रह जाए थोड़े हट के खड़े हो जाए और दर्शक मित्रों से फिर प्रार्थना कर देता हूं कि आपके कारण जरा भी बाधा न पड़े इसका ख्याल रखेंगे बात नहीं करेंगे चुपचाप खड़े होकर देखते रहेंगे जो दर्शक है वो थोड़ा दूर हट जाए ताकि साफ हो सके कि कौन ध्यान कर रहा है जो दर्शक है वो थोड़े पीछे हट जाए उन्हें चुपचाप देखना है तो थोड़ा दूर हट के खड़े हो इतने पास खड़े न हो और जो मित्र ध्यान करने खड़े हैं वो भी अपने आसपास थोड़ी जगह बना लें क्योंकि आज दूसरा दिन है आपको थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी कल जिन्होंने हिम्मत नहीं की उन्हें भी आज हिम्मत करनी सबसे पहले आंख बंद कर लें जो लोग ध्यान में जा रहे हैं वो आंख बंद कर लें ये आंख 40 मिनट के लिए बंद हो रही है अब चालीस मिनट में आंख नहीं खोलनी अब बीच में खड़े हो तो आंख खोल के ना खड़े रहे जो लोग यहाँ ध्यान के घेरे में खड़े हैं वो आंख बंद करने वहां कोई एक व्यक्ति भी आंख खोले ना खड़ा रहे आंख बंद करिए अन्यथा बीच से हट जाइए और ये आंख 40 मिनट के लिए बंद होती है बीच कुछ भी हो जाए आपको आंख नहीं खोलनी है अन्यथा बाधा पड़ेगी बंद कर ली है अब तीन बार अपने मन में संकल्प कर लें मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा मैं प्रभु को साक्षी रख के संकल्प करता हूँ कि ध्यान में अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा इस संकल्प को 40 मिनट तक कम से कम याद रखना पूरी शक्ति लगाएंगे तो ही परिणाम आना शुरू होगा और लोगों को भूल जाना प्रभु को स्मरण करना हो तो लोगों को भूल जाना जरूरी है कौन क्या देख रहा है खड़े होकर उसकी चिंता नहीं करना अपने काम को पूरा कर लेना पहले दस मिनट फास्ट ब्रीदिंग करनी है तेज सांस लेनी और छोड़नी किसी को सुविधा हो तो वो नाक से लेकर मुंह से भी छोड़ सकते हैं किसी को सुविधा हो तो नाक से लेकर नाक से भी छोड़ सकता है ध्यान में रखने की एक ही बात है कि इतने जोर से ले लीजिए कि धीरे धीरे आपका पूरा शरीर और पूरा मन सिर्फ श्वास ही लेने लगे शुरू करें दस मिनट के लिए अपनी पूरी शक्ति श्वास पर लगा दें गहरी श्वास फेंकें बाहर तेजी से भीतर ले जाएं तेजी से बाहर फेंकें बस फेफड़े में सांस भर जाए बाहर फेंक दें रोकनी नहीं है बाहर निकल जाए फिर फेफड़े में ले जाए जो मित्र ध्यान करने खड़े हैं वो पूरी ताकत लगा दें ऐसा लगने लगे कि आप सिर्फ एक झोंकने ले रहे हैं जो सांस ले रही छोड़ रही एक दस मिनट गहरी सांस लेने से तत्काल परिणाम शुरू हो जाए गहरी सांस फेंकें और लें लें और छोड़े जीने नहीं चलेगा कोई जीने कर रहा है तो बेहतर है ना करे जोर से लें और जोर से छोड़े जितने जोर से श्वास की चोट पड़ेगी कुंडली उतनी ही शीघ्रता से जागृत होनी शुरू होगी और जब कुंडली आपके भीतर जागेगी तो पूरा शरीर इलेक्ट्रीफाइड मालूम पड़ने लगेगा जैसे बिजली दौड़ने लगी जब बिजली दौड़ने लगे तो घबराए ना हाँ गहरी श्वास लें और छोड़ें सांस लें और छोड़ें जितना फास्ट हो सके अपने को थका डालना है पूरी तरह जितना फास्ट हो सके शरीर हिलता है तो फिक्र न करें श्वास तेजी खुलेंगे शरीर हिलने लगेगा तेज श्वास लें तेज छोड़ें तेज श्वास लें तेज छोड़ें और तेज और तेज और तेज पूरी शक्ति लगा देनी है कि पसीना पसीना हो जाए ये परमात्मा के द्वार पर थक के गिरेंगे तो ही गिर पाएंगे पूरी शक्ति लगा देनी है थका डालना है बहुत ठीक बहुत मित्र बहुत ठीक से कर रहे हैं कुछ मित्र धीरे कर रहे हैं वे तेजी से लें नहीं तो परिणाम नहीं होता फिर करना बेकार हो जाता है तेज श्वास लें और तेज छोड़े सारा शरीर कपने लगे उसकी फिक्र न करें श्वास लें और छोड़ें श्वास लें और छोड़ें श्वास लें और छोड़ें सारा शरीर बिजली से भर जाएगा मूव करने लगेगा घूमने लगेगा उसकी चिंता न करें और तेज और तेज आपसे ही कह रहा हूं किसी और से नहीं और तेज और तेज और तेज और तेज और तेज श्वास ही श्वास रह जाए बस श्वास ही ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे श्वास ही ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे और दूसरों की फिक्र छोड़ दें आप ही अकेले यहां हैं ऐसा समझें और गहरी सांस लें गहरी सांस भीतर शक्ति जगनी शुरू हो जाएगी गहरी सांस लें और शक्ति जगने लगे तो भयभीत न हो शरीर शक्ति के साथ डोलने लगेगा भयभीत न हो गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास और गहरी श्वास जितनी ताकत आप में वो पूरी लगा दे कुछ पीछे बचाए नहीं पांच मिनट बचे हैं पांच मिनट पूरी ताकत लगा दें से हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और जब पहले में आप पूरे थक जाएंगे तभी दूसरे में जा सकेंगे और गहरी सांस शरीर छलांग लगाने लगे हिलने लगे हाथ पैर नीचे नीचे होने लगे फिक्र ना करें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास आंख बंद ही रहेगी आप अपने शरीर की भी फिक्र न करें देखने की आंख बंद ही रहेगी गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास पूरी ताकत लगाएं जरा भी अपने को बचाएं मत मैं आपको थका ही डालना चाहता हूं ताकि आखिरी चरण में प्रभु के द्वार पर थक के गिर जाए असहाय और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास तीन मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाए फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास कोई चिंता न करें शरीर हिलने लगे हाथ पैर ऊंचे नीचे होने लगे जो भी होता हो आप अपनी श्वास पर पूरा ध्यान लगा दें पूरी ताकत लगा दें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास दो मिनट बचे हैं ताकत चोरी लगा दें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वान श्वास ही श्वास ही श्वास रह जाए आप एक यंत्र मात्र रह जाए श्वास से और कुछ भी नहीं है श्वास भीतर जाती बाहर जाती इसे पूरी ताकत से करें तो आंख और श्वास अलग मालूम होने लगेंगे साफ दिखाई पड़ने लगेगा श्वास अलग मैं अलग श्वास अलग मैं अलग श्वास अलग मैं अलग लेकिन ताकत पूरी लगाए तभी ये साफ फासला मालूम पड़ेगा श्वास अलग मैं अलग शक्ति पूरी लगा दें श्वास अलग मैं अलग गहरी श्वास एक मिनट बची है पूरी ताकत लगाएं मैं एक दो तीन कहूं तब आप पूरी ताकत लगा देंगे जितनी आपकी सामर्थ्य हो एक पूरी ताकत लगा दें दो पूरी ताकत लगा दें तीन पूरी ताकत लगा दें पूरी ताकत लगा दें श्वास ही श्वास रह जाए श्वास ही श्वास रह जाए और अब हम दूसरे सूत्र में प्रवेश करते हैं श्वास जारी रहेगी श्वास तेजी से जारी रहेगी और अब शरीर को आप ढीला छोड़ दें शरीर को जो करना हो करने दें जैसे ही शरीर कुछ करने लगेगा वैसे ही शरीर अलग आप अलग दिखाई पड़ने लगेगा शरीर को छोड़ दें रोता हो रो हिलता हो हिलता है नाचता है नाचता है जो भी हो रहा है शरीर का कोई भी अंग कुछ भी करना चाहता है उसे ढीला छोड़ दें उसका सहयोग करें उसे करने दें शरीर मूव करने लगेगा घूमने लगेगा छोड़ दें गहरी सांस जारी रहे और शरीर को बिल्कुल मुर्दे की तरह छोड़ दे जो भी शरीर में होना है होने दे जब शरीर अपने आप यंत्र की तरह कपने लगता नाचने लगता रोने लगता हंसने लगता तो भीतर साफ होने लगता है मैं अलग शरीर अलग सुना है बहुत शरीर अलग है उसे देखने का मौका है उसे देख ले छोड़े दस मिनट के लिए अब शरीर को बिल्कुल छोड़ देना और वो जो भी करे उसमें सहयोग करे उसे करने दें वो जो भी करे रोने लगेगा कोई रोए हंसने लगेगा कोई हंसे नाचने लगेगा कोई नाचे गिर पड़ेगा कोई गिर जाए जो भी शरीर को करना है आप उसमें जरा भी बाधा न दे श्वास जारी रहेगी श्वास जारी रहेगी श्वास गहरी जारी रहेगी और शरीर को छोड़ दे हाँ शरीर नाचे नाचने दें डोले डोलने दें गिर जाए गिर जाने दें ताकत पूरी लगाएं छोड़ें और देखें बीच में एक भी व्यक्ति आंख ना खोले आपसे पहले कहा तो बाहर हट जाए कोई को अगर आंख खोल लिए बीच के वातावरण को खराब ना करें पूरी ताकत लगा दें शरीर को जो होता है होने दें ध्यान न लें कि कोई कहेगा पागल हो गए हैं ध्यान न लें कि कोई कहेगा ये आप क्या कर रहे हैं शरीर जो कर रहा है उसे करने दें छोड़ें संकोच न करें बहुत से मित्र मतलब संकोच में रोक लेते हैं फिर प्रयोग पूरा नहीं हो पाएगा छोड़ दें कुछ मित्रों ने छोड़ा है छोड़ें बाकी लोग भी छोड़ दें बातचीत न करें जो मित्र देख रहे हैं वो कम से कम चुपचाप खड़े रहे इतनी कृपा करें चुपचाप देखते रहे छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़े आपसे ही कह रहा हूं किसी और से नहीं बिल्कुल छोड़ दें शरीर को जो होता है होने दें रोना आए रोके नहीं हंसना आए रोके नहीं शरीर नाचता हो शरीर को जी को बनाया जी ममता कम लाके उठ गई मेरे को उठा जी छोड़े छोड़े शरीर को बिल्कुल छोड़ दें पांच मिनट बचे शरीर को छोड़े शरीर कोन्हे शरीर को छो दे शरीर को छोड़े शरीर को छो दे रोता न रो नौका में रोटे लोचा नथे घर खे हथु पीडे काॾे मीना बिन बारिया बिल्कुल छोड़ शरीर को बिल्कुल छोड़ दें देखिए और दर्शक बीच में ना आए अंदर ना आए दर्शक बीच में अंदर ना आए इतनी कृपा करें बाहर खड़े रहें इसका तालोपन न करें बाहर खड़े रहें बाहर से देखें बीच में बाधा न डालें बीच में ना आए चार मिनट बचे हैं पूरी तरह छोड़ दें फिर हम तीसरे सूत्र में प्रवेश करें छोड़ दें बिल्कुल शरीर को जो होता है बोले जो होता है बोले शरीर बचता है हंसने दे रोता है रोने दे चिल्लाता है चिल्लाने दे नाचता है नाचने दे शरीर की कोई भी क्रिया में बाधा न डाले होने दे अंधेरी नाश हरि कृपा संत बैठे मन प्रकाश स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश स्वयं प्रकाश छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे शरीर जब अपने से काम करने लगेगा तब भीतर साफ दिखाई पड़ेगा मैं अलग शरीर अलग मैं भिन्न शरीर भिन्न छोड़े छोड़े और दर्शक कृपा करें भीतर न प्रवेश करें बाहर खड़े होकर देखते रहें छोड़ छोड़ दे छोड़ दे छोड़ पूरी तरह छोड़े अन्यथा चूक जाएंगे कुछ मित्र एकदम छोड़े हुए हैं कुछ अपने को रोके हुए हैं रोके नहीं छोड़ दे जो भी होता है होने दे ठीक है ठीक है छोड़े बिल्कुल छोड़ दे बिल्कुल छोड़ दे बिल्कुल छोड़ दे तीन मृत बच्चे हैं पूरी तरह छोड़े शरीर डोलने लगे नाचने लगे रोने लगे हंसने लगे शरीर जो भी करता है करने दे शरीर जो भी करता है करने दे शरीर को बिल्कुल छोड़ दे देखिए बात न करें आप तो कुछ खड़े होकर देखते रहे छोड़ दें शरीर जो करता है करने दें शरीर जो करता है करने दें के नहीं और किसी का संकोच न दे ये सब देखने वाले कोई भी साथी नहीं है उन्हें देखने दे उनका संकोच आप न ले और कृपा कर कोई बीच में ना आए सोईबुद्दीन सोईदीन दिन प्रभु सराना करना हारना पूछे अब क्या किराया पुकाना छोड़ दे छोड़ दे दो मिनट बचे हैं छोड़े फिर हम तीसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे छोड़ दे बिल्कुल छोड़ दे शरीर को छोड़ दें जो हो रहा है होने दें शरीर को जो हो रहा है होने दें छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दें शरीर जो कर रहा है करने दें भीतर साफ दिखाई पड़ेगा शरीर अलग में अलग आप बात न करें चिंता करें चुपचाप खड़े रहें चुपचाप खड़े रहें कम से कम बात न करें चुपचाप खड़े रहे और दर्शक कोई बीच में ना आए इतनी नासमझी ना करें देख रहे हैं यही काफी नासमझी है ये होती तो समझदारी होती तो देखते रहे बाहर खड़े रहे छोड़े एक मिनट बचा है पूरी तरह छोड़ दें शरीर जो करता है करने दें फिर हम तीसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे छोड़े छोड़े शरीर को बिल्कुल छोड़ दें हंसता है रोता है नाचता है जो करता है करने छोड़े छोड़े बिल्कुल छोड़ दें जरा भी रोके नहीं मैं एक दो तीन कहूंगा आप छोड़े एक छोड़े पूरी करें दो छोड़ दें तीन छोड़ दें जो भी हो रहा हो होने दें छोड़ दें छोड़ दें जो भी हो रहा होने दें छोड़ दें शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ छोड़ दें शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ छोड़ दें अब तीसरे सूत्र में प्रवेश करना है श्वास जारी रहेगी शरीर की गति जारी रहेगी अपने भीतर दस मिनट तक पूछना है मैं कौन हूं पूरी ताकत लगानी है कि मन थक जाए मन के भीतर पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूं मन के भीतर ही पूछे मैं कौन हूं और सत्य पूरी लगा दें देखें दर्शक भीतर ना आए सब पढ़े लिखे लोग हैं आपको कहना नहीं चाहिए बाहर रहें दर्शक बाहर रहें दूर से देखते रहे मैं कौन हूं दस मिनट मन की पूरी ताकत भीतर लगा देंगी श्वास से अलग हम हुए शरीर से हम अलग हुए मैं कौन हूं दस मिनट तक तेजी से पूछे मन से भी अलग हो जाएंगे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं सांस जारी रहेगी शरीर कपता रहेगा भीतर पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं अपनी पूरी ताकत भीतर लगा दें मैं कौन हूं मैं कौन हूं कोई फिक्र नहीं पूरी ताकत लगाएं दस मिनट फिर हम विश्राम करेंगे दस मिनट अपने को थका लें जो जितने थक जाए कितने पागल लोग हो तुमसे कह रहे हैं कि बाहर रहो मैं कहूंगा पूरी ताकत लगा दें जितना थक जाएंगे उतनी शांति में प्रवेश हो सकेगा दस मिनट के बाद फिर हम शांत हो जाएंगे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं पूरी ताकत लगा दें करता तू मैं मुझमें रहा हूँ अब्बा पर काबिल क्या जब तू तब तू तू तू मैं कौन हूँ तू क्या अपने तू है मैं नहीं है तू है तू है मैं नहीं है मैं कौन हूँ तू मैं कौन हूँ शरीर को घूमने दे सांस को तेज रहने दे भीतर पूछे मैं कौन हूँ एक पांच मिनट की बात में पूरी ताकत लगा देंगे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूँ कोई की फिक्र न करें अपने फिक्र करें मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं खता डालने में बिल्कुल पांच मिनट में ताकि हम गहरी शांति में जा सके मैं कौन हूं खता डालें खता डालें मैं कौन हूं ये कौन है तो ना समझ वो लड़के बिल्कुल तो बाहर निकलो मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी ताकत लगा दें पांच मिनट के लिए पूरी ताकत लगा दें मैं कौन हूँ शरीर नाचे नाचने दें रोए रोने दें हंसे हंसने दें ये कौन हूँ मैं कौन बिल्कुल पागल हो जाए पूछने में मैं कौन हूँ एक तूफान उठा दे भीतर मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बिल्कुल पागल हो गए सब भूल गए एक ही सवाल रह जाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ پوری طاقت بنا دیں کون میرے کون میرے کون میرے کون بالکل طوفان اٹھا دیں جتنا بڑا طوفان اتنی بڑی شانتی میں جانا ہو سکے گا اس موقع کو نہ چونکہ پوری طاقت لگا دیں गई मैं कौन गई मैं कौन गई मैं कौन गई मैं कौन गई तीन मिनट बचे हुए ताकत बढ़ाए अपने भीतर पूरी तरह पूछे मैं कौन हूँ मैं पूरी ताकत लगा दें दो मिनट बचे हैं तो हम लोग काम करेंगे न कौन न कौन न कौन न कौन न कौन न कौन न कौन दो मिनट पूरी ताकत लगा दें बिल्कुल पागल हो गए मैं कौन न मैं कौन लेकिन भीतर कोई प्रवेश न करे मैं कौन हूँ मैं कौन डाले अपने को बिल्कुल छोटा डाले सारी ताकत लगा दे एक मिनट और बचा है पूरी ताकत लगा दे बिल्कुल पागल हो जाए अपने को बचाए नहीं पूरी ताकत लगा दे मैं कौन हूं मैं कौन हूं एक पूरी ताकत लगे दो ताकत लगाए चीन पूरी ताकत लगा दे मैं कौन हूं मैं कौन हूँ मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं अब छोड़ दे अब विश्राम में चले जाए अब दस मिनट के लिए सब छोड़ दे शरीर को भी छोड़ दे श्वास को भी छोड़ दे पूछना भी छोड़ दे दस मिनट के लिए बिल्कुल जैसे मुर्दा हो गए और देखें दर्शक अब कम से कम दस मिनट कोई बात न करें दस मिनट दर्शक कम से कम दस मिनट अब चुप हो जाए बिल्कुल दस मिनट के लिए जैसे मिट गए समाप्त हो गए जैसे मर गए जैसे रही नहीं खड़े रहते बने खड़े रहे गिरने का भाव हो लेट जाए बैठ जाए दस मिनट के लिए सब समाप्त हो गया दस मिनट के लिए सब समाप्त हो गया जैसे लिख ही गए समाप्ति हो गए सब शून्य हो गया भीतर देखते रहे भीतर देखते रहे भीतर बहुत कुछ होगा उसे देखते रहे शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेंगे भीतर देखते रहे भीतर प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा देखें दर्शक जरा चुप रह जाएं आश्चर्यजनक बात है एक दस मिनट आप चुप रह जाएं या बात करनी हो तो चले जाएं भीतर प्रकाश ही प्रकाश रह जाएगा और हृदय से आनंद की धारा उठने लगेगी भीतर देखें भीतर अनुभव करें प्रकाश की प्रकाश आनंद ही आनंद शांति ही शांति सब मौन हो गया तूफान जा चुका और गहरी शांति रह गई इसी शांति में परमात्मा की अनुभूति शुरू होती है इसी आनंद में प्रभु का द्वार खुलता है इसी प्रकाश में उसका मार्ग दिखाई पड़ता है भीतर देखें भीतर देखें भीतर देखे प्रकार के प्रकार आनंद जी आनंद शांति ही शांति भीतर देखे भीतर देखे है द्वार उसका ठीक से पहचान लें भीतर बाहर उसका कोई द्वार नहीं बाहर उसका कोई मंदिर नहीं यही है मंदिर उसका यही है द्वार उसका ठीक से पहचान लें शांति ही शांति रह गई आनंद ही आनंद रह गया प्रकाश ही प्रकाश रह गया अब धीरे धीरे आंख खोल ले आंख न खोले तो दोनों हाथ आंख पर रखें और आहिस्ता से आंख खोले जो खड़े हैं वे दो चार गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे बैठे हैं जो लेट गए हैं गिर गए हैं वे दो चार गहरी सांस लें और धीरे धीरे उठ के बैठ जाए कोई जल्दी न करे बहुत आहिस्ता से करे धीरे धीरे आंख न खुले तो पहले आंख पर हाथ रखें बैठ से न बने तो पहले दो चार गहरी सांस लें उठ से न बने तो पहले दो चार गहरी सांस लें धीरे धीरे बैठ जाए दो चार बात आपसे तो कहेंगे वो कहते हैं कि हमारी बैठक पूरी हो जाए जो पढ़ेंगे वे दो चार गहरी सांस में फिर धीरे धीरे उठे जो गिर गए हैं वो दो चार गहरी सांस में फिर धीरे धीरे उठे जो खड़े हैं वे भी दो चार गहरी सांस में फिर धीरे धीरे बैठते दो चार गहरी सांस में फिर धीरे धीरे बैठते जो पड़े हैं वे दो चार गहरी सांस में फिर धीरे धीरे होता दो चार गहरी सांस ले लें सांस लेकर आंख खोल लें फिर बैठते दो चार गहरी सांस लें फिर आहिस्ता से बैठते दो चार बातें आपसे कही एक तो कल सुबह हम ध्यान का प्रयोग न कर सकेंगे क्योंकि दर्शक इतनी भीड़भाड़ करें भीतर प्रवेश करें तो संभव नहीं और अगली बार जब यह ध्यान का प्रयोग हो तो जो लोग ध्यान में उत्सुक हैं वो अपने नाम अभी से जीवन जागृति केंद्र को दे दें ताकि उनको पास मिल सके यही लोग भीतर प्रवेश कर सके कल ध्यान का प्रयोग सुबह नहीं होगा सुबह चर्चा ही होगी ध्यान के संबंध में जो आप हैं उसकी मैं बात कर लूंगा दूसरी बात जिनको कुछ भी हुआ हो और बहुत मित्रों को बहुत कुछ हुआ कल से भी ज्यादा आपने मेहनत ली वो तो दुर्भाग्य आपका कि आपका गांव बहुत समझ है अन्यथा कल गति और आगे जा सकती थी वो नहीं संभव हो पाया जिन मित्रों को कुछ भी हुआ हो वो आज तीन से चार के बीच मुझसे आके मिलने और उन्हें कुछ और आगे गति के लिए समझना हो तो समझ लें लेकिन जो भी आपको हुआ हो उसकी बात किसी और से आप मत करना वो नहीं समझ सकेंगे कि आपको क्या हुआ आप उससे बात कर लें और प्रयोग को जारी रखें ये प्रयोग अगर तीन सप्ताह आपने किया तो आपकी जिंदगी में कुछ नया शुरू हो जाए जिन्होंने कल ठीक से किया है उनके लिए कल से भी शुरू हुआ है जिन्होंने आज ठीक किया है उनके लिए आज से भी शुरू हुआ है और अगर तीन सप्ताह आपने किया तो फिर आप छोड़ न सकेंगे घर में इसे कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा दूँ कमरे को बंद कर लें छोटा कमरा बंद कर लें सब द्वार दरवाजे बंद कर दें और संभव हो सके तो सारे वस्त्र अलग कर दें वस्त्रों के कारण शरीर को पूरी गति लेने में बाधा पड़ती है एक बिस्तर नीचे बिछा लें और उस पर खड़े हो जाएं बैठ के प्रयोग न करें लेट के न करें जब प्रयोग आपको तीन सप्ताह में पूरा होने लगे फिर आप बैठ के लेट के कैसा भी कर सकते हैं लेकिन अभी खड़े होकर ही करें खड़े हो जाए आंख बंद कर लें घड़ी में अलार्म भर दें या घर में किसी को कह दें कि घंटा पूरे होने का दरवाजा खटखटा दें और घर के लोगों को कह दें रोने की आवाज आए घुसने की आवाज आए चिल्लाना आए तो कोई चिंता नहीं करेगा कोई दरवाजा नहीं खोलने की कोशिश करेगा और स्नान करने के बाद ही करें और करने के पहले पेट में कुछ न डालें तो ठीक होगा अन्यथा वॉमिट हो सकती है शरीर बहुत जोर से मूव करे तो जो आपने खाया पिया है वो फेंक सकता है इसलिए सुबह सबसे अच्छा है खाली पेट करें रात अगर करने हो तो कम से कम खाने के तीन घंटे बाद करें या खाना फिर बाद में लें इतना ख्याल रखें और तीन सप्ताह प्रयोग करें एक प्रयोग से किसी को भी कुछ पूछने जैसा लगे तो मुझे लिख के पूछ ले सकता है ये प्रयोग अद्भुत है और ये प्रयोग आपके शरीर की न मालूम कितनी बीमारियों को विदा कर देगा न मालूम कितनी बीमारियां आपके शरीर की अचानक समाप्त हो जाएंगी जैसे जल गई आग में यह आपके मन के न मालूम कितने लोगों को रोगों को ऐसे हटा देगा जैसे वो कभी थे नहीं ये आपके चरित्र में सात दिन के भीतर परिवर्तन लाना शुरू करेगा नहीं कहता सात साल सात दिन के भीतर आपको फर्क दिखाई पड़ने लगेगा जहां क्रोध आता था वहां क्रोध मुश्किल हो जाएगा जहां झगड़े की वृत्ति थी वहां मैत्री की वृत्ति हो जाएगी और जो जिंदगी के काम आपको बोझ मालूम पड़ते थे